कालकारिणी अंगानी की जो भूमि आदि कथितम पंचमी सूक्ष्म जगत सक्षया प्रपूर्य यस्त जगत नास्ति तत्र तम परिपूर्ण जो सहस्त्र था सब प्राणियों के हजारों शीर सहस्त्राक्ष हजारों ने और सहस्त्र पाद असंख्य पाद के बीच में है ऐसा सूचक सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर है सह वह सर्वतः सब देशों से भूमि भूगोल में विश्वा सब ओर से व्याप्त हो गए दशांग्रम पांच स्थूल रूप पांच शुक्र ये दक्षिण दश के अवयव है सब जगत को अति अधिकतर पुनः होकर स्थित होता अर्थात सबसे पृथक स्थिर होता है आवाज हे मनुष्यों जिस पूर्ण परमात्मा में सब मनुष्य आदि के असंख्य आंखें और पग आदि अवयव हैं जो भूमि आदि के उपलक्षित हुए पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म भूतों से युक्त जगत को अपनी सत्ता से पूर्ण कर जहां जगत नहीं वहां भी पूर्ण हो रहा है उस सब जगत के बनाने वाले परिपूर्ण सच्चानंद स्वरूप नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव परमेश्वर को छोड़ के अन्य की उपासना से कभी न करो किंतु उस ईश्वर की उपासना से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करो इसी वेगत प्रार्थना है का संदेश वेद का आदेश किसी विषय में हमारे लिए आधार बनता रहता है ईश्वर के संबंध में हम निर्णय करना चाहते हैं तो अंतिम बात किसकी मानी जाए इसका उत्तर है कि अंतिम बात को नियमित करने वाला आदेश संदेश ईश्वर का है पुराने साधकों को याद होगा और नए आए हैं वो सीखते रहेंगे ईश्वर का संदेश अंतिम निर्णय का आधार क्यों माना जाता है उत्तर दिया करो बैठना नहीं है आप क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर का निर्णय अंतिम क्यों स्वीकार किया जाता है इसका उत्तर है कि ईश्वर सर्वज्ञ है फिर प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है कि ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है आप भी उत्तर दिया करो सर्वज्ञ क्यों है सर्वव्यापक है वेद का उसने उसी के ही द्वारा ये सृष्टि चल रही ऐसे ईश्वर को आप जन्म में कुछ अनुभव करते हैं तो सर्वज्ञ मानने का अर्थ ये बनेगा कि जो कुछ आप जन्म में विचार करते हैं वो सारे विचार ईश्वर के सामने होने चाहिए नहीं तो आप ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मानते अब क्या समझ में आया आपको सर्वंतरयम हम्म? है हमारे मन में उसको पता नहीं उस बात को देखो व्यवहार में क्या बात आई आप यदि ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वव्यापक मानते हैं तो उसका अर्थ ये होता है जो कुछ आप मन में सोचते हैं अच्छा बुरा उल्टा सीधा वह ईश्वर के सामने रहना चाहिए यदि नहीं करते तो आप ईश्वर को नहीं मानते ये आपको अंतर नहीं दिखता सर्वज्ञ मानने का अर्थ आपने कहा ईश्वर सर्वज्ञ है और न आगे न पीछे ईश्वर कहीं नहीं जन पर बुला रहता है ऐसा ईश्वर सर्वज्ञ है इससे क्या हुआ आपका संबंध ईश्वर से कट गया ये इसका परिणाम है ईश्वर से लाभ उठाओ क्या लाभ उठाओगे आप ईश्वर से जो भी करो अच्छा करो क्योंकि वो सर्वज्ञ सब देख रहा है आपके दोष और गुण सब देख रहा है उसका फिर आपको परिणाम देगा उसका फिर क्या लाभ उठाएंगे हम ईश्वर से ईश्वर से हमको ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से हम सत्या सत्य का निर्णय अच्छी तरह कर लेंगे धर्म अधर्म का निर्णय अच्छी तरह करेंगे बुरे अच्छे का निर्णय अच्छी तरह करेंगे फिर हम दिन भर सुख के लिए लालायित रहते हैं ईश्वर से हमको ऐसा सुख मिलेगा जो लौकिक सुखों की ओर भागना नहीं पड़ता ईश्वर से हम संपत्त रहते हैं तो वो सुख मिलेगा ईश्वर से यदि ईश्वर से हमारा संबंध कट जाता है तो वो सुख हमको नहीं मिलता ईश्वर के साथ रहने से आपको साहस उत्साह निर्भयता ये ज्ञान विज्ञान की बातें मिलती दूसरे पक्ष में ईश्वर से संबद्ध रहने पर हमें चोरी आदि बुरे कर्म करने की योजना नहीं बनाते यदि बनाते हैं तो झट ईश्वर सामने आता है कि ईश्वर देख रहा है तो वहां का मारा बजाता नहीं संबद्ध रहने से ये परिणाम होते हैं नहीं तो नहीं होते खाते पीते चलते ईश्वर से संबद्ध रहे उससे विभिन्न प्रकार की आपको उपलब्धियां ज्ञान ईश्वर से मिलता रहेगा आनंद भी मिलेगा बल भी मिलेगा उत्साह मिलेगा प्रेरणा निर्भीकता ये गुण उपलब्ध और ईश्वर अज्ञान का नाश होता जाएगा दुख का भी नाश होगा सभी निर्बलताएं हट जाएंगी ईश्वर के विषय में जानना और जानने के पीछे फिर उसका उपयोग करना आप यहां की उपयोग करना सीख लो ईश्वर का ईश्वर का उपयोग हो सकता है चौकड़ी की तरह क्या नहीं हो जाएगा कैसे उपयोग हुआ ईश्वर का उदाहरण दिया करो चुपचाप नहीं बैठना नहीं आता तो ठीक है ईश्वर का उपयोग कैसे करेंगे आप ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करेंगे ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करेंगे ईश्वर से आनंद प्राप्त करेंगे और ईश्वर से बल प्राप्त करेंगे ईश्वर के द्वारा निर्भीकता भय रहित अवस्था को पहुंचेंगे कितने गुणों को हमें ईश्वर के उपयोग के कारण से कर पाएंगे बिजली का उपयोग इसका उपयोग इसलिए होता हम जानते हैं इससे हम धुन का काम नहीं ले पाते दूसरे पक्ष में हमसे जो भूलें होती हैं या हमारी प्रवृत्ति होती है बुराइयों की ओर वो ईश्वर को उपस्थित रखते हुए ईश्वर से संपर्क रहते हुए वो बुराइयां नहीं होती और उठती हैं तो उसको हम रोक लेते यदि यह निर्णय आपका ढीला है कि ईश्वर सभी कर्मों का फल अवश्य देता है फिर तो आप ईश्वर से प्रभावित इतने नहीं होंगे यदि ये निर्णय दृढ़ है आपका कि ईश्वर छोड़ेगा नहीं हमारी किसी बात को ये हो नहीं सकता कि हमारी बात कोई ऐसी रह जाए जिसको ईश्वर ना जानता हो उसका दंड नहीं मिले आप मन बनाइए बुद्धि बनाइए प्रत्येक घटना प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक उपासना प्रत्येक कर्म तीनों कालों में ईश्वर के ज्ञान से बाहर नहीं जा सकता एक बार दोहरा लो सुनते रहो और दोहराते रहो बाहर और भूतकाल में कभी गया नहीं आज वर्तमान में नहीं जा रहा है किसी का ज्ञान विज्ञान उल्टा सीधा अनंत काल तक की कोई ज्ञान विज्ञान चेष्टा क्रिया ऐसी नहीं होगी जो ईश्वर के ज्ञान से बाहर चली जाए तो आप माने न माने ईश्वर के सामने तो रहेगी वो ये अच्छा है कि आप मान लें उसको ये अच्छी बात है तो उल्टा होता है आप मानने के लिए तैयार नहीं ईश्वर से उल्टा दंड मिलता है आपको इस मंत्र में ये समझाया गया सर सिरसा पुरुष परमात्मा के सहसर असंख्यात स्वर जब अवतार लेता है जब होते होंगे ना बिना अवतार के तो नहीं होते क्या समझ में आया आप क्या समझ नहीं आप बोलो जी ले ले तो इसकी व्याख्या ये है ईश्वर कैसा है सहस्त्र का अर्थ यहां पर हजार नहीं है केवल सहस्त्र संस्कृत में हजार को कहते हैं हिंदी में भी सहस्त्र लिखते हैं और सहस्त्र हजार को कहते हैं यहां पर सहस्त्र शब्द का अर्थ है असंख्या जिसकी संख्या हम नहीं कर सकते आप बोलिए क्या है संख्या अर्थ ये बनेगा वो ईश्वर कैसा है असंख्यात है सिर जिसमें बोलो क्या समझ वो किसके हैं हम लोगों की सृष्टि हाँ, क्या समझे विद्यार्थी लोग इन्होंने तो बता दिया इन्होंने पहले सुना होगा जल्दी याद हो गया असंख्यात है सिर जिसमें जिसमें का मतलब है हम मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग इसको कोई गिण नहीं सकता ईश्वर के अतिरिक्त वो सारे स्वर जितने भी हैं खगोल भूगोल जितने असंख्यात स्वर जिसमें है ऐसा ईश्वर है क्या समझ में है जी आप किसी व्यक्ति का मुंह देख के उसके द्वेष करने लगेंगे तो- यजुर्वेदस्य एकविंशत्तमाध्यायस्य द्वितीयो मन्त्रः पठिष्यते व्याख्यासते च आज यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय इक्कीसवें अध्याय का दूसरा मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी ओम तस्य तेन ईश्वरेण यदा यदा सृष्ट्यभूः तदा तदा निर्मिता इदानीं धरती पुनर्विरात् अतिष्ठते यत् आधारेण सर्वं वर्तते वर्धते च तमेव परेषु परमात्मानं उपाधिष्ठं न अस्मात् इदम् जिस ईश्वर में जब जब सृष्टि हुई तब तब रहती इस समय धारण करता फिर विनाश करके रचेगा जिसके आधार से सब वर्तमान है और बढ़ता है उसी सबके स्वामी परमात्मा की उपासना करो इससे भिन्न की नहीं इसी वेद उपासना है बतलाया गया है कि इस संसार में यद भूतम जो कुछ उत्पन्न हुआ है उत्पन्न होगा तत्सर्वम वह सबका सब पदार्थ समुदाय चाहे वो हमें इन आंखों से देखता हो या न देखता हो स्थूल रूप हो या सूक्ष्म रूप हो हमारे निकट हो अथवा दूर हो तो जितना भी है सब जगत उत्पन्न हुआ है और होगा और यद अन्न अतिरोहति और जो अन्न के साथ बढ़ता है सामान्य भाषा में हम अन्न का अर्थ समझते हैं गेहूं चावल जो हम भोजन खाते हैं उसको हम अन्न कहते हैं यहां अन्न का अर्थ भोजन आदि के साथ साथ जो भोजन को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी है उस पृथ्वी का नाम यहां पर अन्न है क्योंकि ये अन्न भी पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है तो इस कारण इसको भी अन्न नाम दिया गया है तो पृथ्वी आदि पदार्थों के साथ जितना भी जगत अतिरोहती बढ़ता है तो संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न हुए जितने होंगे और पृथ्वी आदि उनमें से एक